कि जरा उनके नाम तो लो क्या तुम उसे ऐसी चीजें बताते हो जो रूए जमीन पर हैं और उसे मालूम नहीं या तुम लोग महज सतही बात की तकलीफ करते हो असल यह है कि काफिरों को उनके फरेब खूबसूरत मालूम होते हैं और वो हिदायत के रस्ते से रोक लिए गए हैं और जिसे अल्लाह गुमराह रहने दे उसे कोई हिदायत करने वाला नहीं उनको दुनिया की जिंदगी में भी अजाब है और आखिरत का अजाब तो बहुत ही सख्त है और उनको अल्लाह के अजाब से कोई भी बचाने वाला नहीं مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آمنوا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق जिस जन्नत का परहेजगारों से वादा किया गया है उसकी शान यह है कि उसके नीचे नहरें बह रही हैं उसके फल हमेशा बाकी रहने वाले हैं और उसके साय भी ये उन लोगों का अंजाम है जो मुत्तकी हैं और काफिरों का अंजाम दोजख है और जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इस किताब से जो तुम पर नाजिल हुई है खुश होती हैं और बास फिरके इसकी बास बातें नहीं भी मानते कह दो कि मुझको यही हुक्म हुआ है कि अल्लाह ही की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न बनाऊं मैं उसी की तरफ बुलाता हूं और उसी की तरफ मुझे लौटना है और इसी तरह हमने इस कुरान को अरबी जबान का फरमान बनाकर नाजिल किया है और अगर तुम इल्म आ जाने के बाद इन लोगों की ख्वाहिशों के पीछे चलोगे तो अल्लाह के सामने कोई न तुम्हारा मददगार होगा और न कोई बचाने वाला ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا الدنيا وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفى فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله और ए नबी हमने तुमसे पहले भी पैगंबर भेजे थे और उनको बीबियां और औलाद भी दी थी और किसी पैगंबर के इख्तियार की बात न थी कि अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई निशानी ले आता हर हुक्म कजा किताब में लिखा हुआ है अल्लाह जिस चीज को चाहता है मिटा देता है और जिसको चाहता है बाकी रखता है और उसी के पास असल किताब है और अगर हम कोई अजाब जिसका इन लोगों से वादा करते हैं तुम्हें दिखाएं यानी तुम्हारे रूबरू इन पर नाजिल करें या तुम्हारी मुद्दत हयात पूरी कर दें यानी तुम्हारे इंतकाल के बाद अजाब भेजें तो तुम्हारा काम हमारे अहकाम का पहुंचा देना है और हमारा काम हिसाब लेना है क्या इन्होंने नहीं देखा कि हम जमीन को उसके किनारों से घटाते चले आ रहे हैं और अल्लाह जैसा चाहता है हुक्म करता है कोई उसके हुक्म का रद्द करने वाला नहीं और वो जल्द हिसाब लेने वाला है قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا जो लोग इनसे पहले थे वो भी बहुतेरी तदबीरें करते रहे हैं सो तदबीर तो सब अल्लाह ही की होती है हर शख्स जो कुछ कर रहा है अल्लाह उसे जानता है और काफिर जल्द मालूम कर लेंगे कि आखिरत में अच्छा अंजाम किसके लिए होता है और काफिर लोग कहते हैं कि तुम पैगंबर नहीं हो कह दो कि मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह और वो शख्स जिसके पास किताब आसमानी का इल्म है बतौर गवाह काफी है